मोहम्मद अली लोगों के चैंपियन लेखन वॉल्टर डीन मायर्स चित्रांकन Alex Delinois Hindi voice over Partho Mukherjee कहानी की पृष्ठभूमि मैं अमेरिका हूँ जिस व्यक्ति ने कहा था उस व्यक्ति का जन्म लुईविल केंटकी में कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर के रूप में हुआ था उनके सबसे पहले मुक्केबाजी कोच पूर्व पुलिस अधिकारी जो मार्टिन ने उनसे कहा लोगों को चुनौती देना शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि तुम खुद लड़ना सीखो कभी अंडरडॉग माना जाने वाला कैसियस बाद में मोहम्मद अली के नाम से जाना गया और उसने अंततः दुनिया के हेवीवेट चैंपियन का खिताब जीता प्रशंसित लेखर वॉल्टर डीन मायर्स ने उस आदमी की सुंदरता और शक्ति को इन शब्दों में बयां किया वो तितली की तरह तैर सकता था और मधुमक्खी की तरह डंक मार सकता था और अब मुख्य कहानी जब वो एक बच्चा था तब हम मोहम्मद को जी जी कहते थे क्योंकि वो हमेशा जी जी जी जी कहता रहता था चैंपियन की माँ ओडेसा बर्ड क्ले ने कहा और फिर जब वो गोल्डन ग्लव्स चैंपियन बना तब उसने हमसे कहा कि वो गोल्डन ग्लव्स कहने की कोशिश कर रहा था मोहम्मद अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को लुईविल केंटकी में हुआ था उनके माता पिता ने उनका नाम कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर रखा लुईविल एक शांत दक्षिणी शहर था लोग आने जाने के लिए बसों की सवारी करते थे लेकिन बहुत से युवा लड़कों को साइकिल चलाना पसंद थी एक रात वो बच्चा नीचे आया और वो रो रहा था किसी ने उसकी साइकिल चुरा ली थी और बेशक वो इस बात से बहुत परेशान था जो मार्टिन एक पूर्व पुलिसकर्मी ने कहा वो तब केवल 12 वर्ष का था और वो साइकिल चुराने वाले को कोड़े मारने जा रहा था मैंने कहा ठीक है इससे पहले कि तुम लोगों को चुनौती देना शुरू करो बेहतर होगा कि तुम खुद लड़ना सीख लो अपने खाली समय में जो मार्टिन बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते थे जल्द ही कैसियस भी उनका एक छात्र बन गया कैसियस ने जिम में कड़ा प्रशिक्षण लिया वो जोर से नहीं मार पाता था लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ सकता था वो तब भी काफ़ी बातें करता था कि वो अपने विरोधियों के साथ क्या करेगा शौकिया प्रतियोगिताओं में लड़ने के बाद कैसियस गोल्डन ग्लव्स चैंपियन बन गया 1960 में 18 वर्ष की आयु में उसने अमेरिकी ओलंपिक मुक्केबाजी टीम में जगह बनाने के लिए क्वालिफाई किया वो रोम में खेलों के लिए जा रहा था कैसियस जो बहुत तेज था उसने अपनी पहली लड़ाई आसानी से जीत ली लेकिन चैंपियनशिप के लिए चौथी लड़ाई काफ़ी कठिन थी पहले दौर में पोलिश मुक्केबाज जिग्बिनियफ पीटर जिकॉफ्सकी ने कैसियस को चारों ओर धकेलने के लिए अपनी क्रूरता और अनुभव का इस्तेमाल किया दूसरे दौर में कैसियस अभी भी हार रहा था लेकिन तीसरे दौर में असली कैसियस क्ले सामने आया उसने बूढ़े आदमी को मुक्का मारने के लिए अपने कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया कैसियस क्ले जूनियर ने स्वर्ण पदक जीता रातों रात वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया अमेरिका में अभी भी कई ऐसे स्थान थे जहां काले लोग नहीं जा सकते थे भले ही उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हों लुईविल प्रायोजन समूह ने कैसियस में रुचि ली और उसकी एक पूर्व light heavyweight champion Archie Moore के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की लेकिन मूर का लड़ाई का तरीका कैसियस के लिए बहुत रक्षात्मक था वो अपनी गति और फैंसी फुटवर्क पर ध्यान देना चाहता था इसलिए उसने प्रशिक्षक को बदल दिया अपनी पहली पेशेवर लड़ाई में कैसियस ने ट्यूनी हुनसेकर को हराया अगले तीन वर्षों में उन्होंने लगातार 18 और लड़ाइयां जीती लेकिन कई प्रशंसकों को उसके बारे में संदेह था उन्होंने कहा कि कैसियस ने अपनी गति का बहुत अधिक उपयोग किया और अपने हाथों को बहुत नीचे रखा और वो एक हेवीवेट फाइटर की तरह नहीं लग रहा था मैं दुनिया का सबसे महान फाइटर हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा कवि हूँ मैं महानतम हूँ मैं सबसे महान हूँ वो चिल्लाया लोग कैसियस को लुईविल लिप कहने लगे कैसियस को ध्यान आकर्षित करना पसंद था लेकिन उसका एक गंभीर पक्ष भी था जिसे कम ही लोगों ने ही देखा केंटकी में काले लोग बसों में सामने की ओर सवारी नहीं कर सकते थे उसने कहा और न ही वो जहां चाहें वहां एक कप कॉफ़ी पी सकते थे जब काले लोगों ने अपने मानवीय अधिकारों को हासिल करने की कोशिश की तो कैसियस ने उन्हें पिटते और जेल जाते हुए देखा ज्यादातर लोगों ने सोचा कि कैसियस एक तेज तर्रार युवक था जिसने पहले शीर्ष लड़ाकुओं का सामना नहीं किया था जब उन्होंने दुनिया के heavyweight champion Charles Sonny Liston से लड़ने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो एक खिलाड़ी ने लिखा हम में से कुछ लोग पुराने सनी लिस्टन के साथ लड़ाई लड़ने से पहले कैसियस क्ले पर एक बड़ी बीमा पॉलिसी खरीदना चाहते हैं लिस्टन एक क्रूर मुक्केबाज था उसने अपनी पहले तीन लड़ाइयों में पहले राउंड में अपने प्रतिद्वंदी को नॉकआउट कर दिया था और लड़ाइयाँ जीती थीं लेकिन कैसियस अब भी आश्वस्त था मैं उस बदसूरत भालू को फर्श पर पटकने जा रहा हूँ उसने सनी लिस्टन के बारे में कहा वो विश्व विजेता बनने के लिए बहुत बदसूरत है दुनिया का विजेता मेरे जैसा सुंदर व्यक्ति होना चाहिए मैं एक तितली की तरह तैरूंगा और एक मधुमक्खी की तरह डंक मारूंगा कैसियस ने एक आदमी से कहा अगर आपकी आंखें उसे देख नहीं सकती हैं तब आप अपने प्रतिद्वंदी को हाथ से नहीं मार सकते हैं लड़ाई शुरू हो गई गुस्से में लिस्टन ने कैसियस पर उग्र घूंसे फेंके लेकिन कैसियस उनसे लगातार बचता रहा कैसियस ने लिस्टन को तेज चुभने वाले घूंसे मारे छह राउंड के बाद एक पस्त और निराश लिस्टन सातवें राउंड के लिए बाहर ही नहीं आया फिर कैसियस क्ले दुनिया का हेवीवेट चैंपियन बन गया पूरा खेल जगत दंग रह गया कुछ ही दिनों में कैसियस क्ले ने खेल जगत को फिर से चौंका दिया उसने घोषणा की कि उसने अपना धर्म बदल लिया है और अपना नाम भी बदल लिया है मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे ग़ुलाम कैसियस क्ले के नाम से पुकारे लोगों ने अली से पूछा कि वो नेशन ऑफ इस्लाम में क्यों शामिल हुआ क्योंकि कई लोग ये महसूस करते थे कि वो एक धार्मिक संगठन नहीं बल्कि एक नफ़रत फैलाने वाला समूह था मैंने एक मुसलमान बनना चुना है मैंने एलिया का अनुयायी बनना चुना है मोहम्मद अली ने कहा क्योंकि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक निश्चित योजना की पेशकश कर रहे हैं जिससे मेरे लोगों को मदद मिलेगी उनसे पूछा गया कि क्या वो गोरे लोगों के खिलाफ हैं उन्होंने कहा नहीं मुझे गोरे लोग पसंद हैं मुझे अपने लोग पसंद हैं अली ने कहा मैं वो हिस्सा हूं जिसे आप नहीं पहचान पाएंगे लेकिन अब आप मेरी आदत डाल लो काला आत्मविश्वासी अहंकारी मेरा नाम तुम्हारा नहीं है मेरा धर्म तुम्हारा नहीं है मेरे लक्ष्य मेरे अपने हैं इसलिए मेरी आदत डाल लो अली को उम्मीद थी कि काले लोग मिलकर एक साथ आएंगे और एक दूसरे से और ख़ुद से प्यार करेंगे अब जब वो दुनिया का हैवीवेट चैंपियन बना तब उसने सोचा कि उसे काले लोगों के पक्ष में बोलना चाहिए उसने कहा मैं रोल्स रॉयस में सवार होकर खुश नहीं हूँ मैं एक पहाड़ी के ऊपर रहकर खुश नहीं हूँ ये जानकर कि मेरे भाई और बहन नीचे भूखे हैं और वे सूप लाइन में खड़े हैं ये उन्नीस की बात थी अमेरिका वियतनाम में युद्ध लड़ रहा था उत्तर वियतनामी लोगों ने कहा कि काले लोग उनके दुश्मन नहीं थे आपका वास्तविक संघर्ष आपकी अपनी जन्मभूमि पर है इसलिए अभी घर लौटो और वहां संघर्ष करो उन्होंने कहा सेना में भर्ती होने के लिए अमेरिकी पुरुषों को सेना में अपना पंजीकरण कराना था अली ने भी अपना पंजीकरण कराया लेकिन जब उसे सेना में सेवा के लिए बुलाया गया तो उसने कहा इस्लाम धर्म में एक मंत्री के रूप में मैं अमेरिका की सशस्त्र सेना में शामिल होने से इनकार करता हूं कई युवकों ने अपनी धार्मिक विश्वासों के कारण सेना में भर्ती होने या लड़ने से इनकार कर दिया था उन्हें कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता कहा जाता था एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मोहम्मद अली के ईमानदार आपत्तिकर्ता होने के कारण वैध थे लेकिन उसे फिर भी सेवा करने के लिए बुलाया गया था 28 अप्रैल उन्नीस को अली ने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया उसके बाद उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई और उससे हेवी वेट चैंपियनशिप छीन ली गई कई लोगों को वो सज़ा अनुचित लगी और कई वकीलों ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय में अपील की अली जिन्हें अब लड़ने की अनुमति नहीं थी ने अपना अधिकांश समय एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में बिताया उन्होंने देश भर में कॉलेजों और इस्लाम के राष्ट्र की बैठकों में भाषण दिए उन्हें खासकर बच्चों से बात करना अच्छा लगता था कई लोग उन्हें पीपुल्स चैंपियन मानते थे अली जवान और खूबसूरत थे उन्होंने ब्लैक इज़ ब्यूटिफुल शब्दों को विशेष अर्थ दिया अली जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी अपील खो दी तो उन्हें जेल जाना होगा यदि वो अपना मन बदल लेता और सेना में शामिल हो जाता तो वो बॉक्सिंग लड़ाइयाँ लड़ पाता और एक आसान जीवन जी पाता लेकिन उसने अपने विश्वासों का पालन करने का फैसला किया उसने कहा जिस व्यक्ति में जोखिम उठाने का साहस नहीं है वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा जबकि अली ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि उसकी अपील का क्या असर होगा उस समय तमाम लोग वियतनाम में युद्ध पर आपत्ति जता रहे थे नागरिक अधिकार आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था अब अली के रवैये को समझना आसान लग रहा था अक्टूबर 1970 में अंततः उन्हें फिर से लड़ने की अनुमति दी गई उन्होंने जेरी क्वारी के खिलाफ अपना मैच जीता लेकिन स्मोकिन जो फ्रेजियर दुनिया का हेवीवेट चैंपियन था और मुक्केबाजी के प्रशंसकों ने इन दो पुरुषों के बीच मैच का इंतजार किया 8 मार्च 1971 को अली ने फ्रेजियर के खिलाफ लड़ाई लड़ी पर वो एक कठिन लड़ाई हार गए उनके प्रशंसकों को उससे बड़ा धक्का लगा लेकिन अली लड़ते रहने के लिए दृढ़ थे 28 जून 1971 को संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अली को सेना में सेवा करने से छूट दी जानी चाहिए रिंग के योद्धा अली ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती थी अली ने कहा जब मैंने सेना में जाने से इनकार किया तो मैंने खुद को कभी महान नहीं समझा मैंने जो सोचा था उसके लिए मैं खड़ा हुआ था मैं अमेरिका को अमेरिका बनाना चाहता था और अब पूरी दुनिया वो बात जानती है खेल के इतिहास में अली सबसे मनोरंजक फाइटर थे उन्होंने अपने समय के हर बड़े लड़ाके का मुकाबला किया उनकी सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक को रंबल इन द जंगल के नाम से जाना जाता है वो मध्य अमेरिका के जायर में जॉर्ज फोरमैन से लड़ने जा रहे थे फोरमैन नया हैवीवेट चैंपियन था अली जो अब 32 वर्ष का था को युवा सेनानी से हारने की उम्मीद थी लेकिन अली का एक अलग विचार था अब आप मुझे देखते हैं पर अब आप नहीं देखते हैं जॉर्ज सोचता है कि वो मुझे देखेगा लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा जब लड़ाई शुरू हुई तो अफ्रीकी भीड़ जो अली के पक्ष में थी बार बार चिल्लाई अली बम्बा ये फोरमैन उससे परेशान नहीं हुआ वो आगे आया और उसने अली को रस्सियों के खिलाफ पकड़ लिया बार बार उसकी विशाल भुजाओं पर अली झूलता रहा अली के प्रशिक्षकों ने उसे रस्सियों से दूर जाने के लिए बार बार कहा अली ने फोरमैन को गर्म रोशनी के नीचे मुक्का मारने की अनुमति दी उसने रस्सियों के खिलाफ खड़े रहने की अपनी योजना को रोप ए डोप नाम दिया मैं रस्सियों पर लेट गया और कहा आओ मुझे मारो मुझे लगा तुम मारोगे वो एक बचकाना पंच होगा आठवें दौर में फोरमैन थक गया और तब अली को अपना मौका मिला अली के मुक्के तेज और कड़े थे बिग जॉर्ज फोरमैन दंग रह गया फिर उसे चोट लगी वो ज़मीन की ओर लड़खड़ाया और तब रेफरी ने उस पर गिनती करना शुरू कर दी अली एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गया रंबल इन द जंगल के बाद अली सात साल और लड़ा अंततः उन्नीस में वो उनतालीस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ उनका बॉक्सिंग का कैरियर ख़त्म हो गया था और अब वो एक और कठिन प्रतिद्वंदी का सामना कर रहे थे एक तंत्रिका विकार रोग का जिसे पार्किंसंस रोग कहा जाता है भगवान ने मुझे ये याद दिलाने के लिए वो शारीरिक दुर्बलता दी है कि मैं सबसे महान नहीं हूँ अली ने कहा सबसे महान भगवान है उन्नीस में अली को अटलांटा जॉर्जिया में खेलों में ओलंपिक मशाल जलाने के लिए कहा गया जैसे ही उन्होंने मशाल को जलाने के लिए लॉ को उठाया दुनिया देख सकती थी कि उसके भीतर अभी भी एक लड़ाकू मौजूद था और वो लगातार अपनी बीमारी से लड़ता रहा दुनिया भर में लाखों लोगों ने उनकी जय जयकार की मोहम्मद अली वास्तव में पीपल्स चैंपियन थे लेखक के शब्द जब 60 के दशक की शुरुआत में कैसियस क्ले का उदय हुआ तो उन्होंने काले जीवन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छुआ वो ब्लैक इज ब्यूटीफुल के पूर्ण अवतार थे और उन्होंने ब्लैक पावर के विचार को एक नया अर्थ दिया न केवल अपनी रिंग की जीतों में बल्कि अपने अद्भुत व्यक्तिगत साहस द्वारा भी उन्होंने गोरों की खिलाफत करे बिना भी काले रंग को सुंदरता और शक्ति का प्रतीक बनाया क्ले और बाद में अली न केवल एक काले हीरो थे बल्कि अपने हास्य और युद्ध विरोधी रुख के साथ वे युवा सफ़ेद अमेरिकियों के लिए भी एक हीरो थे और अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 17 जनवरी 1942 कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर का लुईविल में जन्म हुआ सितंबर सौ 1960 को ओलंपिक स्वर्ण पदक लाइट हेवीवेट पदक जीता 29 अक्टूबर 1960 ट्यूनी हंसेकर के खिलाफ पहली पेशेवर लड़ाई जीती लुईविल केंटकी में 25 फरवरी 1964 वर्ल्ड हेवीवेट खिताब जीतने के लिए सनी लिस्टन को हराया मायामी बीच फ्लोरिडा में 26 फरवरी 1964 मुस्लिम धर्म में परिवर्तित 6 मार्च 1964 मोहम्मद अली नाम अपनाया 28 अप्रैल उन्नीस अमेरिकी सशस्त्र बलों में शामिल होने से इनकार किया 27 जून उन्नीस को मुक्केबाजी का खिताब छीन लिया गया और उन्हें खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया अक्टूबर 26 1970 जेरी क्वारी के खिलाफ वापसी मैच जीता एटलांटा में 3 मार्च 1971 विश्व हेवीवेट चैंपियन जो फ्रेजियर से हारे न्यूयॉर्क में 28 जून 1971 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में शामिल होने से इनकार करने पर दोषी ठहराए जाने के निर्णय को उलट दिया अक्टूबर 30, 1974 जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ जंगल में रंबल जीता किनशासा जायर में अक्टूबर 1, 1975 मनीला में जो फ्रेजियर के खिलाफ थ्रीला जीता क्विजोन सिटी फिलीपींस में 11 दिसंबर 1981 अपनी आखिरी लड़ाई में ट्रेवर बर्बिक से हारे नसाऊ बहामस में 19 जुलाई उन्नीस ओलंपिक मशाल जलाई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अटलांटा में उन्नीस संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के रूप में कार्य किया दिसंबर 2 1999 को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी नामित किया गया 9 नवंबर 2005 को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया